वास्तव में सच्चे सुख में है ही है ब्रह्म ही खाता अन्न अन्न ब्रह्म खाने वाला ब्रह्म देखने वाला ब्रह्म लेने वाला ब्रह्म ही सब ब्रह्म उतरा चढ़ा रहा है जैसे गंगा जी क्या बड़ा सरोवर है और गंगा जी के जल से बने बर्फ के टुकड़े हैं तो गंगा जी के बर्फ के टुकड़े और गंगा जी का जल तेरा उतरा रहा है ऐसे हम ब्रह्म में तेरा उतरा रहे दुख भी तेरा उतरा है दुख भी ब्रह्म रूप है सुख भी ब्रह्म रूप है अच्छा आदमी भी ब्रह्म है बुरा भी ब्रह्म है ब्रह्म आपस में अटखेलियां कर रहा है बिल्कुल पक्की बात तो यही है आखिरी बात ही है वासुदेव सर्वम ब्रह्म में ही तैरा उतरा रहे हैं कभी राजी कभी नाराजी कभी वट्ट कभी सट्ट कभी गैका कभी मैका कभी दुनिया लुंडी तो कभी है ब्रह्म में ही तैरा उतरा रहे सभी वासुदेव ही वासुदेव है आखिरी बात भी है पहली बात भी है ब्रह्म में स्थिति हो सत्य में स्थिति हो नहीं स्थिति है ही है अब मैं बोलू मेरी आशाराम में स्थिति हो आशाराम में आशाराम तो मैं हूँ ऐसी ब्रह्म में स्थिति क्या करना है स्थिति एक स्थिति अवस्था है सत्य सत्य है स्थिति क्यों करना स्थिति करने वाला तो मिथ्या होगा सत्य तो स्वतः सिद्ध है मेरी सत्य में स्थिति हो तो सत्य में स्थिति सत्य सत्य तो दो नहीं होता है असत्य तो सत्य में मिल नहीं सकता और सारा सत्य का ही विवर्त है परिवर्तन है रात का सपने में मैं हाथा जोड़ी करूं कि मेरी ब्रह्म में स्थिति हो जाए महाराज लेकिन महाराज महाराज भी मैंने ही बनाया और ब्रह्म में स्थिति भी मैं मांग रहा हूँ और मेरी स्थिति से मैं मांग रहा हूँ और दे रहा हूँ है कि नहीं है सपने में महाराज मेरी ब्रह्म में स्थिति हो जाए मेरे को ये मिल जाए तो जिनसे मिल मिल जाए पूछ रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ और मांगने वाला भी मैं हूँ दोनों के रूप में मैं ही मैं हूँ है है मिलायत है है अरे मौज थी भाई रोगी तो बाहर ही होती अरे तुम क्या जरा तो दीजिए यही मौज है हाँ। है ब्रह्म में स्थिति था कहीं आनंद ही आनंद है मौज ही मौज है पानी पाना ना कोई माई ना कोई बाप आप ही आप आप ही आप इधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है खुदा से न कोई चीज जुदा है जब अवल और आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है न उसके सिवा है है आगा जो अम्बा जरों का जेवर में मिया से न हरगिज वो गैर हो रहा है जिसे तुम दुनिया समझते हो गाफिल वो कुल हक ही हक है न जुदा है न बका है કીડી મેં में લાગે मोटो મેં તું મોટો ने મને બાળકને માપે બેઠો तू रो तू अड़ो खेल रचो मेरा दाता जा देखो मैं तू रो तू जल थल में तू ब्याजे भूत जंत के भेड़ो तू कत कबीरा सुनो भाई साधु गुरु भी बन के बैठो तू और भी बन के बैठो तू ही रहो तू ये वासुदेव है परिस्थिति है ये स्थिति है थे तो न थे तेरा चपटी न डपंजा कौन थी भी स्थिति हो स्थिति हो ये भी अड़चन है स्थिति विषय विकार भी अड़चन है स्थिति हो ये भी अड़चन है वो अड़चन है गिराने वाले ये अड़चन आखिरी में हटाने वाला हो वो स्थिति अ और म के बीच स्थिति है वही ब्रह्म है कठिन नहीं है होता नहीं होता नहीं संसार में होता है परमात्मा में होना बोना कुछ नहीं है जो हो रहा है उसी में हो रहा है और बढ़िया चमकाते कि ऐसा हो जाए जरा भोग अच्छी मिले फिर भजन करो अरे तो मुसीबत कर लिया आपने लिए जरा पेटों की शादी हो जाए फिर भजन करूं ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ये हट जाए तब ऐसी अवस्था आ जाए कोई अवस्था लाओ नहीं और कोई हटाओ नहीं जहाँ है वही है ब्रह्म ऐसा ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए वस्तु स्थिति परिस्थिति को बनाकर भजन करेंगे यहाँ ईश्वर मिलेगा इस इस गलती में पड़ो ही नहीं अभी अभी है मैं कहीं जाकर आश्रम बनूंगा क्या कुछ पहनने का आश्रम बनूंगा क्या अथवा कुछ उतारने के बाद आश्रम बनूंगा अभी हूँ जैसा भी ऐसे में अभी ही परमात्मा में हूँ परमात्मा मुझ में अभी मैं चेतन हूँ अभी मैं ज्ञान स्वरूप हूँ अभी मैं अमर हूँ शाश्वत हूँ अभी हूँ कुछ बदलने के बाद थोड़ी हूँ अभी हूँ ये गलती तो साधारण मनुष्य तो करते लेकिन पार्वती ने भी ये गलती की कि मैं तप करूंगी तब भगवान मिलेंगे तो फिर तप करा मेहनत करी फिर मिले अभी मिलेंगे मिले हुए हैं तो अभी प्रकट होते मैं इतना जब करूंगा फिर भगवान मिलेंगे मैं ऐसा करूंगा फिर कुछ होगा तो ये हम अपने गर्भ से ही बाधा डाल देते हैं जो मिला मिला है उसके लिए फिर कुछ ना कुछ कंडीशन बना लेते हैं ऐसा करेंगे तभी होगा ऐसा होगा तभी होगा ये एक दो नहीं सभी इसी भूल में पड़े एक भूला दूजा भूला भूला सब संसार वे भूला एक गोरखा जिसको गुरु का था जिसने गुरु के ज्ञान का आधार लिया हो तो भूल निकल गई बस खाली भूल निकालना है ईश्वर प्राप्ति का मतलब है भूल निकालना है बस जो हाथ पैर नाक ये जीव को मैं मानते हैं वो भूल निकाल के जहां से मैं मानने वाली वृत्ति उठती है वो मैं हूँ बस हो गई भूल पूरी इतना ही है लेकिन जैसे वो पतंग चढ़ा दे ना तो फिर धागा उलझ जाता है जल्दी जल्दी करते तो और गांठ पे गांठ उलझ पड़ जाती ऐसे और धीरे से देखो तो एक छेड़ा दूसरा छेड़ा जरा रखो तो एकदम खुल गया ऐसे ही है भूल खुल जाए तो यूं हो जाता है और नहीं तो ऐसा करो जप करो इतना व्रत करो इतनी पूजा करो इतना करो फिर भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होती कर ही रहे सब लोग भूल निकालना है भूल मिटाना है जरा ये खाऊं तो मजा आएगा जरा ऐसा हो जाए फिर ठीक है ये अपनी अपनी कल्पना अपनी अपनी इच्छा अपनी अपनी वासना पकड़ के हम सुखी होना चाहते हैं यही बड़ी भूल है जो भी हो जाए अच्छा दूसरी बात है कि हम जो चाहते वो सब होता तो नहीं है आज तक का सभी का अनुभव है राम जी के बाप का भी चाह नहीं हुआ कृष्ण का भी चाह नहीं हुआ तो सब चाहा हुआ किसी का होता नहीं है और हमारे चाहने से ही होता है ऐसा नहीं हम नहीं चाहते फिर भी भोजन करते और खून बनता रहता है कितना ऊंचा काम अपने आप हो रहा है हम नहीं अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं करते फिर भी श्वास चल रहा है तो कितना महत्वपूर्ण कार्य हो, हो रहा है तो ऐसे सब हो रहा है आपको खाली जो भी हो उसमें सम रहना है बस असम बनना नहीं है सम है सम बनना भी नहीं है सम बनने के लिए कहीं जाना भी नहीं है सम है अपने तो में सजाग रहना है और भूल मिटानी विषम होने की भूल मिटानी नई परिस्थिति पाने की भूल मिटानी भूल मिटाने का नाम है साक्षात्कार भूल मिटाने का नाम है ईश्वर प्राप्ति बेचारे दुश्मन जी दुआ घुरण तो सजण जो गारियूं थियूं दुश्मन की दुआ बि डरा रही है क्योंकि दुश्मन है सारा दुआ करता लेकिन गड़बड़ होगी तो अपनी मान्यता से दुश्मन की दुआ भी खराब लग रही है हाँ अपनी मान्यता से अपने दोस्त की गाली भी मीठी लग रही है तो अपने मन के भाव में ही सारी दुनिया का कल्पना जाल है ना मन के भाव को मन तक रहने दो अपने में मत घुस रहो बस हाथ घुसता है तो घुसता जा नहीं घुसेगा तो भी घुसेगा तो घुसे ना घुसे उपराम हो जाओ उपराम होना तो आता ही है घर में थी तो क्या नाम था तू घर में हुई है ना शादी के पहले थी ना क्या नाम था सुशील अभी क्या नाम है अभी रेखा हो गई तो सुशीला से उपरांत होना तो जानती है रेखा बन में पहले अपने माँ बाप के घर को माँ बाप के घर को अपना घर मानती थी है सुशीला अपने माँ के घर को अपना घर मानती अभी बोलते हो नहीं वो मेरे भाइयों का ये मेरा घर है ऐसे ही समझ लो ना मेरा स्व मेरा घर है ये बनाया है जैसे अरे काय को छोरी को छोड़ क्यों बोलता है तो मंगनी हो गई पराए घर जाएगी मंगनी हो गई बोले तो पराए घर जाएगी अपनी बेटी होते हुए पराई मान लेते कि नहीं मान लेते ऐसे ही इसको पराए मान लो ना बस अपनी बेटी होती है ना मंगनी कराते शादी करा देते तो बोलते ना भैया तो ससुराल जमाइयों की डिपॉजिट है ऐसे ही है पांच बूतों का खेल और मैं पांच बूतों में व्याप रहा हूं जैसे इस शरीर में व्याप रहा हूं वैसे सभी के शरीर में व्याप रहा हूं एक शरीर की वाहवाही क्या निंदा क्या सुख क्या दुख क्या इतने सारे घर हैं किसी के घर कुत्ता घुस गया तो मेरे को चिंता होती क्या और मेरे घर में भी कुत्ता घुस गया तो मेरे घर का मालिक हो गया क्या ऐसे ही है बस धर्म का को ऐसा ऊंचा सत्संग मिले ना उसको पकड़ बैठो बस दिल दिया तो जो होगा देखा जाएगा अब दिल दिया क्या और देखा जाएगा क्या ये सब भजन है कल्पना है न दिल दिया है न देखा जाएगा ये सब कल्पना में मत पड़ो आप जो है मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं अनुष्ठान कर अनुष्ठान कर लिया अब मैं क्या करूं करे बिना रहा नहीं जाता अनुष्ठान करते तो करते शांत हो जा मैं क्या करूं ये कौन पूछता है और अनुष्ठान किसने किए खोजते खोजते ही शांत हो जाता अनुष्ठान के फल में स्थिति हो जाएगी सरल है लेकिन उधर ध्यान नहीं जाता उधर नजर नहीं जाती इधर उधर की आपाधापी को महत्व दिया इसीलिए उधर नजर नहीं जाती सही आपकी गया हुई मैं तो मौत के मुंह में था आपने मेरे को बचा लिया अरे शरीर से बच गए तभी भी आखिर तो शरीर तो शरीर है आप तो पहले ही बचे हुए हमने क्या बचाया पहले ही बचे हुए आपको मार सके शत्रु में कौन है आकाश को काट सके ऐसी कोई तलवार है क्या कोई गोली है क्या आकाश को मार ऐसे हम चिदाकाश आकाश आत्मा है चेतन है हमको कौन मार सकता है सही आपने बचा मैं तो अभी आपके सारे जिंदा हूँ ठीक है शरीर को मैं मानते चलो फायदा हुआ ठीक है लेकिन अपने को शरीर मत मानो अपने को शरीर मत मानो और शरीर में ही अपने को मत मानो शरीर के बाहर भी मैं हूं बाहर भीतर एक जाने ए गुरु ज्ञान बताए बाहर भीतर एक जाने ए गुरु ज्ञान बताए यूं करते यूं करते ध्यान हम हमने भी कई वर्ष ऐसे गवाए ऐसा करे ऐसा करे ध्यान करे ऐसा बैठते कि सिर की तकलीफ हो गई शरीर से खून बहता ये सारे पापड़ वेले समझ नहीं थी ना तड़पते थे रोते थे क्या क्या करते थे उधर तो एक कानून बन गया कि बापू तड़फे रोए हम भी तरफेंगे रोएंगे तभी मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है मैं जिस रास्ते गया वहां ट्रैफिक जाम था अथवा कच्चा रास्ता था या धूल उड़ी तो अभी वो रास्ता टोल रोड हो गया तो वहां से दूर कहाँ आएगी अभी हम यहाँ से डीसा जाते थे जो रोड था अभी टन टन हो गया यहाँ से बड़ौदे जाते थे उस समय जो रास्ता था अभी अच्छा हो गया तो ऐसे हम लोग गए थे उस समय जो हमको तकलीफ थी तो आपके लिए तो टोल रोड हो गए ना एकदम साफ हवा में उड़ता जाए हवा में उड़ता जाए मेरा लाल पट्टा मलमल का हो जी सर सर सर सर हवा चले मेरा बुधाई वजह नहीं हो बच्चे थे ना वो चलते थे देखो ये सब सपना कितने ब्रह्म ज्ञान वाली हवा में उड़ता जाए मेरा यहाँ है ना दुपट्टा लाल पट्टो मलमल <laughs> का हो जी हरे ओम हरे ओम हरे ओम तो ये उड़ रहा है मन जा रहा है इंद्रिया जा रही तो सुबह उठो नींद में से तो ये सोचो जो मेरे हृदय में स्फुरित होता है जागृत आया स्वप्न आया सुषुप्ति आई चली गई फिर भी जो रहता है मैं उसी परमेश्वर स्वभाव का चिंतन करती मैं अपने सहज स्वभाव में प्रातः स्मरामी हृदय संस्फूर्त आत्म तत्व सत्य चित्त सुखम परम गति तुरी यत जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेती नित्य जागृत आया गया स्वप्न आया गया नींद आई गई फिर भी जो रहता है वही मैं हूँ चैतन्य भगवान खुश हो जाएंगे देवता खुश हो जाएंगे सभी खुश हो जाएंगे आप अपने को इस रूप में जानोगे मानोगे स्वीकारोगे कोई विघ्न बाधा नहीं हाँ ऐसे करो तो रिडी सिद्धियां तो उसमें विघ्न बाधा होगा कुछ कुछ बनना है तो विघ्न बाधा आएगा जो है उसको जानकर उसमें तृप्त होना है तो कोई विघ्न भी नहीं अष्ट सिद्धि रिद्धि पाने में तो बहुत लड़ाई झगड़े हैं फिसलाहट है अप्सराएं आएगी क्या क्या आएगा गिराने वाले आएंगे मिटने वाली चीज पाओगे तो उसमें कॉम्पिटेटर है अमिट को पाने में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है लो <laughs> नश्वर में तो कई कॉम्पिटिशन है और अंत में नश्वर तो छूट ही जाता है और शाश्वत में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है क्योंकि शाश्वत तो पूर्ण है सबके पास है उतने का उतना है अगर मुझे भी प्रधानमंत्री बनना हो अथवा एमपी बनना हो अरे दो पैसे का कारपोरेटर बनना हो तो मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा कॉम्पिटिटर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा लेकिन मुझे अपने में शांत होना है तो क्या लड़ना है मुझे दुकान करनी है शादी करनी है तो मेरे को पराधीनता रहेगी लेकिन मुझे निर्वासनिक होकर अपने में अपने आप को देखना है तो क्या पराधीनता रहेगी शादी करूंगा तो वो तो मेरे को छोड़ के चले जाएगी बुढ़िया लेकिन मैं अपने को छोड़ के कहा जाऊंगा अपने साथ ही तो रहूंगा भाई थोड़ी मेरे साथ चलेगी या साथ निभाएगी ऐसे सभी का हाँ मेरा साथ मेरा साथ रहना साथ रहना हाँ हाँ लेकिन कौन पति कौन पत्नी कौन साथ रहते हैं शरीर से साथ रहता अपना आपा सदा जिसका कभी वियोग नहीं होता है उसी में उसी को मैं मान के जग जाना है बस इतने दोस्त किए इतने मित्र के इतने मित्र के काम आएगा काम आएगा रे बोंदू अंदर के परम मित्र का तो अनादर कर रहा है बाहर के मित्रों का भरोसा कर रहा है तुझे धोखा मिलेगा पक्की बात है पछताना पड़ेगा पक्की बात है क्योंकि तेरा सूझबूझ ही गलत है भूल है भूल पर भूल करता जाता है एक भूल बनती है ना उस भूल में भूल भूल में भूल भूल में भूल भूल भुलैया हो गया ध्यान लगाए तब ईश्वर मिले जब करे तब ईश्वर मिले पैसा कमाए तब सुखी रह जाए कोई जरूरत ही नहीं नौकरी करे तभी सुखी हो जाए ऐसा करे तभी सुखी हो जाए अरे जहाँ पूरी होता तो है सुबह वही तो टिको मैंने तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछा बस तो ज्यादा काम है क्या लेकिन वो आदत पड़ गई ना पुरानी मारने वाली वृत्ति से जुड़े रहे मरने वाले शरीर से मैं मानते रहे बदलने वाली चीजों को मेरा मानते रहे है हम अबदल बदलने वाली चीजें कितनी बदल गई मन के कितने विचार बदल गए बोले हम तो काम ही है अरे काय का काम काम आया चला गया कन्या तो काम ही नहीं है हम लोग भी है लोग आया चला गया मुंह आया चला गया तू रहता है ये जाते जाने वालों को अपने में क्यों ठोकता है वो मैं तो गदा ગડા गया बापा हमें दया करो लाल जी के दया करो અરે ये शरीर थे उपन्यास आपने वो मरने वाला गर्दा हुआ जो बच्चा था वो जवान हुआ वही गर्दा हुआ वही मरेगा मैं खाए को मरना पक्का कर दे लाखों यज्ञ हो गए लाखों तीर्थ हो गए करोड़ों गौदान हो गए उसका मतलब ये नहीं कि मुंजी बन जाओ सत्कर्म करते रहे ना लेकिन बात यहां है ठीक है अच्छा है विघ्न आता है तो संसार स्वप्न है विघ्न भी स्वप्न है विघ्न को जानने वाला मेरा परमात्मा अपना है ओम ओम ओम बस विघ्न है तो क्या करना चाहिए ध्यान से समझना है हमने इसका प्रयोग किया आज सभी आश्रम वासी इधर वाले और महिला आश्रम वाले आज तक प्राणायाम एक मिनट अंदर रोकना चालीस सेकंड बाहर रोकने का था अब इसका पाठ्यक्रम आगे का बढ़ा सकते हैं त्रिबंध करके सवा मिनट अंदर रोके पचास सेकंड बाहर रोके ऐसे दो प्राणायाम आज से ही शुरू करें सवा मिनट अंदर और पचास सेकंड बाहर श्वास रोके और फिर गुरु मंत्र उसमें जपते रहे दोनों नथुनों से श्वास ले लो और मैं बताता हूँ कि सवा मिनट कब होता है गहरा श्वास लो लो और लो रोक दिया श्वास रोक के रखना बल परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम om om om om om om om om om om om om 哦。 श्वास जाता है ठंडा फिर आता है तो गर्म होके श्वास अंदर गया और बाहर आया उसके बीच की अवस्था वो वास्तविक पांचों शरीरों से परे परमात्मा है चेतन है उसी चेतन के बल से श्वास चलते हैं आते जाते हैं उस पर जो ध्यान रखता है उसी परमेश्वर स्वभाव में लीन होकर जीवाणु चिद ब्रह्म के रूप में बीज वृक्ष के रूप में सारे कष्टों से पापों से